कूटस्थ अद्वितीय पचीसवा तत्व आत्मा चिन्ह चेतन होता है मुनिगण इसे साक्षी महान तथा पितामह कहते हैं इतने से यह स्पष्ट है कि महेश्वर की शाश्वत शक्ति ही संहार करती है श्रुति का भी यही कथन है कि रुद्र प्रधान अर्थात प्रकृति से विशेष अर्थात स्थूल भूत पर्यंत सभी तत्वों को दग्ध करते हैं ज्ञान परायण सभी योगियों का आत्यांतिक प्रलय भी शंकर ही करते हैं इस प्रकार सबको अपने वश में रखने वाले ये भगवान रुद्र ही संहार करते हैं श्रुति के अनुसार जगत की स्थापना करने वाली रुद्र की मोहनी शक्ति को ही नारायण कहते हैं पच्चीसवें तत्व अर्थात पुरुष स्वरूप भगवान हिरण्य गर्भ प्रकृति से तन्मय संयुक्त होकर संपूर्ण सत असदात्मक जगत की सृष्टि करते हैं अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित रहने वाली अर्थात स्वयं में ही अधिष्ठित वस्तुतः निरधिष्ठान ब्रह्मा विष्णु तथा ईश महेश्वर नामक सर्वज्ञ सर्वव्यापी तथा शांत तीन शक्तियां भोग तथा मोक्ष रूप फल देने वाली हैं ये शक्तियां सर्वेश्वर स्वरूप सभी के द्वारा वंदनीय शाश्वत और अनंत भोगों से संपन्न हैं अद्वितीय अक्षर तत्व ही पुरुष प्रधान और ईश्वर रूप है उस परमात्मा अव्यक्त अक्षर तत्व में अन्य भी इंद्र सूर्य आदि हजारों दिव्य शक्तियां इनकी भी विविध यज्ञों के द्वारा आराधना की जाती है इन इंद्र सूर्य आदि एक-एक देव का भी ऐसा महात्म्य है कि इनके सैकड़ों हजारों अर्थात अनंत शरीर हैं और इन शरीरों में लोक कल्याण के लिए अनंत शक्तियां हैं पर वस्तुतः इन सबका मूल एक ही निर्गुण शक्ति है अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्व उन उन शक्तियों का आश्रयण कर महेश्वर देव स्वयं लीला पूर्वक विविध देहों की सृष्टि करते हैं और उनका संहार भी करते हैं वेदवादी वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा समस्त यज्ञों में उन महेश्वर का पूजन किया जाता है यही रुद्र हैं तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं ऐसा वेद का कथन है परमात्मा की सभी शक्तियों में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर देव प्रधान शक्ति के रूप में माने गए हैं शूलपाणि महेश्वर कारण ब्रह्म तुरीय तत्व तो आद्य सबसे परे भगवान परमात्मा सनातन एवं सर्वशक्त्यात्मा समस्त शक्तियों के मूल उद्गम एवं अधिष्ठान के रूप में वेदों में वर्णित हैं इसलिए कुछ लोग इन्हें अग्नि तथा कुछ लोग नारायण कहते हैं ऐसे ही कोई इन्हें इंद्र कोई विश्वदेव तथा कोई ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मा विष्णु अग्नि वरुण तथा अन्य सभी देवता और महर्षिगण एक ही रुद्र महेश्वर के विभिन्न स्वरूप कहे गए हैं मनुष्य इन स्वरूपों में से जिस भेद स्वरूप का अवलंबन कर परमेश्वर की आराधना करते हैं शिव महेश्वर उसी स्वरूप को ग्रहण कर फल प्रदान करते हैं अतः इनमें किसी एक भी भेद स्वरूप का अवलंबन कर सनातन महादेव की आराधना करने वाले को उस परम शिव पद की प्राप्ति होती है निष्कर्ष यह है कि सर्वशक्ति संपन्न सनातन देव गिरीश महादेव की सगुण अथवा निर्गुण किसी भी रूप में आराधना अवश्य करनी चाहिए मैंने आप लोगों को निर्गुण योग निर्वीज समाधि पहले ही बता दिया है सगुण रूप की उपासना में आरूढ़ होने की इच्छा करने वालों को भी परमेश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए वेद के कथन के अनुसार पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले तीन नेत्र वाले जटाधारी चर्मांबरधारी पद्मासन में स्थित तथा स्वर्णिम आभा वाले शंकर जी का ध्यान करना चाहिए मुनि श्रेष्ठों इस प्रकार इस सबीज योग का वर्णन किया गया इस संक्षिप्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि महेश्वर तत्व ही सर्वस्व परम ध्येय है इसलिए ब्रह्मा आदि प्रधान सभी देवों को छोड़कर आदि मध्य तथा अंत में रहने वाले शाश्वत तत्व विरूपाक्ष शंकर की आराधना करनी चाहिए अपने धर्म में निरत रहने वाला पवित्र तथा भक्ति योग परायण व्यक्ति वैसा ही शंकर के समान रूप धारण कर शिव के समीप आता है अत्यंत भावना ध्येयाकार चित्त वृत्ति वाले इस सबीज योग का वर्णन किया गया इसका यथा विधि अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति ऐश्वर्य ईश्वर पद को प्राप्त करता है मुनि से श्रेष्ठ हों यदि मनुष्य इसमें भी असमर्थ हो तो उसे हर विष्णु एवं ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए और उसमें भी असमर्थ होने पर भक्ति युक्त होकर कार्य ब्रह्म की शक्ति वायु अग्नि तथा इंद्र आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए पूर्व में आप लोगों को जो दो शुद्ध भावनाएं बताई गई हैं वे सभी कल्याणकर हैं साथ ही निर्बीज तथा सबीज योग का भी वर्णन किया गया है ये भी परम उपादेय हैं मैंने पूर्व में भी यह निर्बीज ज्ञान योग आप लोगों को बताया था बुद्धिमान व्यक्ति को सर्वप्रथम सबीज साकार रूप में ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र की भावना करनी चाहिए अथवा प्रारंभ में जितेंद्रिय होकर अग्नि आदि देवताओं की तत्परता पूर्वक इन देवताओं को ही परम ध्येय मानकर आराधना करनी करनी चाहिए विष्णु के भक्त विष्णु परायण पौरुष को वैष्णव चिन्ह शंख चक्रादि धारण कर नियम पूर्वक नारायण संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप चार मूर्ति धारण करने वाले अनादि निधन जगद्योनि आकाश रूप परम पद रूप सनातन देव वासुदेव पुरुष विष्णु की पूजा करनी चाहिए ब्राह्मी भावना विष्णु को ही ब्रह्म मानने की भावना में भी यही विधि श्री विष्णु का सामिप्य प्राप्त करने के लिए मान्य है इस प्रकार यह पवित्र भावना पर आश्रित परम ज्ञान बताया गया प्राचीन काल में मैंने इस ज्ञान को इंद्रद्युम्न मुनि से कहा था यह चेतनात्मक तथा अचेतनात्मक जगत अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्व महेश्वर स्वरूप ही है वह ईश्वर महेश्वर ही परब्रह्म है इसलिए यह जगत ब्रह्ममय है सूत जी ने कहा इतना कहकर भगवान जनार्दन कुर्म चुप हो गए तब इंद्र के साथ मुनिगण माधव विष्णु कुर्म की स्तुति करने लगे मुनियों ने कहा कूर्म रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है विश्व रूप नारायण वासुदेव आपको नमस्कार है कृष्ण को बार-बार नमस्कार है गोविंद को बारंबार नमस्कार है माधव आपको नमस्कार है यज्ञेश्वर को नमस्कार है हजारों सिर वाले तथा हजारों नेत्र वाले आपको नमस्कार है हजारों हाथ तथा हजारों चरण वाले आपको नमस्कार है प्रणव स्वरूप ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार है आनंद रूप आपको नमस्कार है आप मायातीत को नमस्कार है गुण रहस्यमय शरीर वाले आपको नमस्कार है आप निर्गुण को नमस्कार है पुराण पुरुष तथा सत्ता मात्र स्वरूप वाले आपको नमस्कार है सांख्य तथा योग रूप आपको नमस्कार है अद्वितीय तत्व रूप आपको नमस्कार है धर्म तथा ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाले आपको तथा निष्कल आपको बार-बार नमस्कार है व्योम तत्व रूप महायोगेश्वर को नमस्कार है पर तथा अवर पदार्थों को उत्पन्न करने वाले वेद द्वारा वेद आपको नमस्कार है शुद्ध निराकार स्वरूप आपको नमस्कार है बुद्ध ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है योग युक्त तथा हेतु अनंत प्रपंच के मूल कारण रूप को नमस्कार है आपको बार-बार नमस्कार है मायावी माया के नियंत्रक वेधा विश्व प्रपंच के सृष्टा को नमस्कार है वाराह रूप आपको नमस्कार है आप नरसिंह रूपधारी को नमस्कार है वामन रूप आपको नमस्कार है आप ऋषिकेश इंद्रिय के ईश को नमस्कार है काल रुद्र को नमस्कार है काल रूप आपको नमस्कार है स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करने वाले और अप्रतिहत आत्मा शाश्वत अद्वितीय को नमस्कार है योगाधिगम्य योगी और योगदाता को नमस्कार है देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के कष्ट का शमन करने वाले आपको नमस्कार है भगवन आपकी कृपा से समस्त संसार भव बंधन का नाश हो जाता है हमें आपसे वह ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसे जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है हम लोगों ने विविध धर्म वंश मनवंतर सर्ग प्रतिसर्ग तथा इस ब्रह्मांड के विस्तार के विषय में आपसे सुना आप ही संपूर्ण जगत के साक्षी विश्व रूप और परम नारायण हैं अनंत आत्मन आप ही हम लोगों की शरण और गति हैं आप हमारी रक्षा करें